प्रोफेशनल डिटेक्टिव होने के नाते ये लोग किसी पर भी शक नहीं कर सकते थे अब चूंकि सिर्फ चार ही संदिग्ध लोग बचे थे ऐसे में इन्वेस्टिगेटर्स को बड़ी सावधानी से काम करते हुए इन चारों में से मुजरिम को ढूंढना होगा इसके लिए अभी उन्हें पूरी प्लानिंग करनी होगी नैना और विक्रांत ने सभी इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाकर एक जगह इकट्ठा किया और फिर सभी को अलग अलग टास्क अलॉट करने का प्लान बनवाया तभी वहां कहीं से राघव भागता हुआ आया और उसने तुरंत ही सबको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देते हुए कहा रुको सब लोग ये देखिए ये इस वीडियो में शायद अब हमें मुजरिम को ढूंढने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है इतना कहते हुए राघव ने पेन ड्राइव को लैपटॉप से कनेक्ट करके उसे प्रोजेक्टर पर प्ले कर दिया जिससे सभी लोग एक साथ वीडियो देख सके इस वीडियो को उस वक्त मीडिया द्वारा रिकॉर्ड किया गया था वीडियो में कई सारी एम्बुलेंस और कार दिखाई दे रही थी रेस्क्यू टीम पहले चार लोगों को बचाकर उन्हें स्टेशन पर लेकर निकलती दिख रही थी वैसे घायलों का चेहरा उतना साफ नहीं दिखाई दे रहा था फिर भी उन्हें हल्का हल्का पहचाना जा सकता था इस वीडियो फुटेज को देखने के बाद ये भी पता चला कि उस वक्त सुरंग के भीतर हुए एक्सीडेंट में सिर्फ बस और तेल टैंकर ही दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुए थे बल्कि उस टाइम सुरंग के भीतर से निकल रही एक कार और दूसरी छोटी गाड़ियां भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी कई कार भी सुरंग के भीतर विस्फोट होने से दब गई थी हालांकि ज्यादा नुकसान बस में बैठे लोगों को ही हुआ था और रेस्क्यू टीम का फोकस भी बस में बैठे पैसेंजर्स को ही बचाने पर था कहा जाता है कि दुर्घटना के काफी दिन बाद भी वहां फंसी हुई गाड़ियां मिली थीं। सभी इन्वेस्टिगेटर्स बड़े ध्यान से वीडियो को देख रहे थे जबकि राघव एक एक शख्स के बारे में डिटेल जानकारी दे रहा था इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लोगों को शिफ्ट वाइज निकाला जा रहा था पहले शिफ्ट में चार लोगों को बाहर निकाला गया जिसमें से बहुत मुश्किल से ही कोई पहचान में आ रहा था सबसे आखिरी शिफ्ट में जिन लोगों को निकाला गया था उसमें मिस्टर और मिसेस मेहता सोमानी चक्रवर्ती समेत बाकी के लोग भी नजर आए जिनकी डेड बॉडी अभी बैंक के लॉकर रूम से मिली है ओ नैना ने कुछ सोचते हुए कहा ये जितने लोगों को लास्ट शिफ्ट में बाहर निकाला गया है ये सब लोग ही इस मर्डर केस के विक्टिम बनाए गए हैं दूसरी चीज ये सब लोग बस में थे तो इसका मतलब ये भी हुआ कि बस सुरंग के काफी भीतर फंसी हुई थी तभी इन लोगों को निकालने में टाइम लग गया हम्म सही बात विक्रांत ने नैना की बातों से सहमति जताते हुए कहा इसका मतलब ये है कि बैंक का ये सीरियल मर्डर केस पूरी तरह से इसी बस से कनेक्टेड है अच्छा आप लोग ये देखिए राघव ने वीडियो बंद करने के बाद स्क्रीन पर कुछ फोटोग्राफ्स दिखाते हुए कहा दरअसल हम लोगों ने कुछ एनालिसिस किया है ये देखिए ये जिन लोगों को लास्ट वाली शिफ्ट में बाहर निकाला गया है उसमें सभी विक्टिम्स तो हैं ही साथ ही उसमें तीन अन्य लोगों को भी बचाकर निकाला गया था सभी इन्वेस्टिगेटर्स बड़े ध्यान से प्रोजेक्टर स्क्रीन पर देखने लग गए वहां पर तीन लोगों की अलग अलग फोटो दिख रही थी ये फोटो वीडियो क्लिप में से ही स्क्रीनशॉट लेकर तैयार किया गया था राघव ने स्क्रीन पर देखते हुए कहा ये जो पहली वाली फोटो है ये सोमानी चक्रवर्ती की दादी की है इन्हें भी उस एक्सीडेंट के बाद रेस्क्यू करके बचा लिया गया था जैसा कि हमें पहले से ही पता है कि सोमानी की दादी भी उसके साथ बस में थी तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है हाँ लेकिन अब इनकी डेथ हो चुकी है एक्सीडेंट के कुछ साल बाद ही किसी बीमारी के चलते इनकी डेथ हो गई थी इसके बाद बचे दो लोग ये पहली फोटो जिस औरत की है उसका नाम सुमोना अरोरा है अभी तकरीबन 45 साल की है और पशु विभाग में जॉब करती है दूसरा ये आदमी इसका नाम है रोनित बनर्जी उम्र तकरीबन 34 साल है और ये कोई बुक स्टोर चलाता है राघव की बात सुनने के बाद वहां पर सन्नाटा छा गया था सबके मन में यही सवाल चल रहा था कि आखिर इन तीनों में कातिल कौन है सोमानी चक्रवर्ती की दादी पर तो शक किया जा नहीं सकता उनकी तो ऑलरेडी मौत हो चुकी है बचे सिर्फ दो लोग या तो सुमोना अरोड़ा या फिर रोनित बनर्जी कहीं ये औरत ही तो नहीं है सुनिधि ने कुछ सोचते हुए कहा साल 2000 में इसकी उम्र तकरीबन 24 या 25 साल रही होगी जबकि ये रोनित तो बस तेरह चौदह साल का रहा होगा इसमें उनकी एज से कोई मतलब नहीं है विक्रांत ने जवाब दिया इस केस का पहला मर्डर आज से सात साल पहले हुआ था और उस वक्त ये रोनित की उम्र कोई छब्बीस या सत्ताईस साल रही होगी तो वो बड़े आराम से मर्डर कर सकता था अच्छा आप लोगों को याद है जब हम लोग पहली बार बैंक के सीसीटीवी फुटेज को देख रहे थे तो उसमें जो आदमी नजर आ रहा था वो बड़ा अजीब सा था जतिन ने कहा और हमें कंफर्म भी नहीं हो रहा था कि ये मेल है या फीमेल तो मतलब सुनिधि ने कंफ्यूजन में पूछा तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस क्राइम में एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व है हो सकता है कि इन दोनों ने ही मिलकर ये प्लानिंग बनाई हो जतिन की बातों ने सभी को सख्ते में डाल दिया अभी इन सब बातों में टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है पहले चल के इन दोनों को अरेस्ट करते हैं उन्हें लाकर पूछताछ करेंगे तो सब सामने आ जाएगा नैना ने कहा फटाफट सब लोग रेडी हो जाओ हमें तुरंत निकलना होगा देर नहीं करना नैना ने कहा उसके इतना कहते ही सभी इन्वेस्टिगेटर्स फटाफट रेडी होने लग गए सब ने अपना गन और बुलेट प्रूफ जैकेट कलेक्ट किया और तुरंत ही दोनों संदिग्धों को अरेस्ट करने के लिए निकल गए नैना के साथ टीम बी के मेंबर्स थे और वो लोग सुमोना अरोड़ा को अरेस्ट करने के लिए निकली थी उस टीम की लीड खुद नैना कर रही थी इधर दूसरी गाड़ी में टीम ए के इन्वेस्टिगेटर सवार थे ये सब लोग रोनित बनर्जी को अरेस्ट करने के लिए निकले थे इस टीम के team leader mister Vikrant Saxena ji के हाथ में थी कुछ इन्वेस्टिगेटर्स को ऑफिस में ही रोका गया था वहां से ये लोग रोनित बनर्जी और सुमोना अरोड़ा के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे ये लोग भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं सुमोना और रोनित का आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं है जानकारी के मुताबिक रोनित बनर्जी गोरेगांव ईस्ट के आर्य कॉलोनी में बुक स्टोर चलाता है आर्य कॉलोनी गोरेगांव ईस्ट का थोड़ा शांत एरिया है यहाँ पर बहुत कम आबादी रहती है सामंत रोड कोलाबा श्रेयस ने गाड़ी के जीपीएस में इस लोकेशन को देखते ही कहा ये तो एम्बेडेड एरिया है यहाँ मैं एक दो बार गया हूँ मुंबई के उन एरियाज में से एक है जहाँ अभी तक बिल्डर्स अपना कब्जा नहीं जमा पाए जंगल वगैरह भी बहुत हैं उधर और सुना है यहाँ के लोकल लोग तो इस एरिया में कंस्ट्रक्शन करने के अगेंस्ट भी रहते हैं हाँ मैंने भी सुना है इसके बारे में यहाँ पर एक भूतहा प्लेस भी है जतिन ने अपना बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हुए कहा अरे वो वहाँ नारायण सामंत रोड के पास ही तो मुकेश मिल है मुकेश मिल के बारे में तो सुना ही होगा बहुत पुरानी मिल है अरे उन्नीस में वहाँ बड़ी भयानक आग लगी थी तब से उधर कोई जाता भी नहीं है फिल्म शूटिंग वाले भी गए हैं एक दो बार लेकिन शूटिंग बंद करनी पड़ गई बताते कि वहाँ अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं बंद ही पड़ा है वो तो कोई जाने की हिम्मत ही नहीं करता अब पता नहीं कितना सच है और कितना झूठ क्या भूत संगीतरा को सोचते हुए कहा ये तो सच बड़ी स्टोरी है फिर किसी को छुपाने के लिए इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि कातिल ने अभी तक सभी विक्टिम्स को इसे मुकेश मिल के भीतर छुपा कर रखा हो और भूख से तड़पा कर उन्हें मारा हो अरे नहीं श्रेयस बोल पड़ा अभी हम श्योर नहीं है कि यह मर्डर रोनित बनर्जी ही किया मुझे तो लग रहा है कि इसमें सुमोना अरोड़ा का ही हाथ है देख लेना आप श्रेष ने थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा नहीं मर्डर तो रोनित बनर्जी ने ही किया विक्रांत बोल पड़ा सब लोग उसकी तरफ सवालिया निशान से देखने लगे कैसे इतना श्योर कैसे हो संगीता ने पूछा अभी मुझे सुनिधि से इन लोगों के बारे में और भी बातें पता चली हैं विक्रांत ने गंभीर होते हुए कहा जिस वक्त बस का एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त सुमोना प्रेग्नेंट थी उसके पेट में बच्चा था लेकिन भगवान का चमत्कार ही था कि उसका बच्चा और वो दोनों सेफ बच गए थे इस वक्त वो अपने पति के साथ हैप्पी फैमिली है वो भला क्यों मर्डर करेगी उसे क्या जरूरत लेकिन ये जो रोनित था उसके पास मर्डर करने का बहुत बड़ा रीजन है रोनित बनर्जी उस दिन बस में अकेले नहीं था उसकी माँ भी उसके साथ बस में थी और वो प्रेग्नेंट भी थी एक्सीडेंट के बाद रोनित तो सेफ बच गया लेकिन बदकिस्मती से उसकी माँ और उसके पेट में पल रहे बच्चे की दोनों की डेथ हो गई थी विक्रांत ने कहा अच्छा दूसरी बात यह है कि रोनित काफी अच्छे घर से था उसके फादर का अच्छा खासा बिजनेस था और माँ भी बैंक में मैनेजर थी अच्छी फैमिली थी ये लोग बदलापुर रहते थे जबकि उसका बाप यहाँ मुंबई में रहकर बिजनेस करता था अक्सर इन लोगों का मुंबई आना जाना लगा रहता था हर बार उसके पिता पर्सनल गाड़ी से आते थे उन्हीं के साथ ये लोग भी चले जाते थे लेकिन इस बार क्या हुआ कि उसके फादर को टाइम नहीं मिला तो ये लोग पब्लिक बस से ही मुंबई के लिए निकल पड़े अब रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और उसने मात्र चौदह साल की उम्र में माँ को खो दिया अब माँ की मौत के बाद दुख के कारण उसके बाप की भी हालत खराब होती चली गई तबीयत खराब हुआ फिर बिजनेस भी डूबने लगा अंत में उनकी भी मौत हो गई इस बात का रोनित को गहरा सदमा लगा और फिर मुझे लग रहा है कि उसी ने बदला लेने के लिए इन सब का मर्डर करना शुरू कर दिया अच्छा एक और सबूत भी है विक्रांत ने अपने फोन में रोनित बनर्जी के फादर की फोटो को दिखाते हुए कहा ये रोनित बनर्जी के फादर है इनकी डेथ आज से आठ साल पहले हुई है जब से वो बस एक्सीडेंट हुआ था तब से बीमार चल रहे थे लेकिन मौत आठ साल पहले हुई है और फिर पहला मर्डर भी आज से सात साल पहले हुआ था सो मुझे जहां तक लग रहा है कि रोनित बनर्जी ने अपने पिता की मौत के बाद ही ये सब प्लान किया था ओ ये कहानी सुनकर सभी इन्वेस्टिगेटर्स अवाक रह गए क्या सच में सच में रोनित बनर्जी ही इस सीरियल मर्डर केस का मुजरिम है